तात दिखावही दाते श्यावर रामचंद्र की गय पवन सुत हनुमान की गय बोलो भाई सब संतन की गय नार दिवस नर सकल गुसाई गुसाई संबोधन उनके लिए कह रहे हैं स्वामी स्वामी या गुसाई उस प्रकार से बोलते हैं तो कालभूषण जी गौर से कह रहे हैं कि नारद जी समय सकल सभी लोग जो है वो स्त्रियों के बस में और नाचे नट मर सकती ना ही और स्त्रियों के बस में ऐसे नाचते हैं जैसे नट के हाथ में मरकट नाचे जैसे बंदर को नचाने वाले बंदर को नचाते हैं उसी प्रकार से स्त्रियां जो है पुरुषों को नचाती उनके हाथ में बंदर की तरह से पुरुष नाचते स्त्री जैसे कहेंगे यहाँ जाओ वहाँ जाएंगे ऐसे करो ऐसे करेंगे ये लाओ ऐसे करेंगे वही सब करते जाएंगे जैसे ऐसे स्त्रियाँ जैसे वैसे नाचने पाएंगी कैसे कैसे नाचना स्त्रियों के परतंत्र उनके अधीन अब ऐसा कारण क्या है अब उसको आगे बता देंगे कहते हैं सब नर काम लोग रथ को भी सब काम के अधीन होने के कारण से स्त्री के भी अधीन हो गए ये सब समस्या जो है व्यक्ति की अपनी दुर्बलता जब व्यक्ति अपने अंदर उसकी दुर्बलता होगी तो दुर्बलता के कारण फिर दूसरे के हाथ कठिन बने नाचेगा तो इस प्रकार से तो ये नाचे युवक नर सकल गुसाई नाचे नट नाई ये विजन उपदेश ही जाना हाँ, देखो शूद्रों की बात बताते हैं कि देखो उनको कैसा क्या हो गया कि वो शूद्र जो है वो ज्ञान मान बन गए और दूसरों को विप्रों को उनको ज्ञान देने लगे कहानी लगे शूद्र विजन उपदेश ही जाना और मेरे जनेऊ लेन कुदाना और कोई जनेऊ कर लिया और दान भी जैसे मित्र लोग दान लेते हैं जैसे वो दान भी लेने लगे माने वो हो उन्होंने जो वो सूत्र होकर के भी मित्र <clears throat> भाव धारण कर लिया और वही जैसे मित्रों के जो कर्तव्य हैं वो शुद्र अपने करेंगे और जो मित्र थे वो शुद्र का काम करने लगे हाँ? उलट पलट इस प्रकार से जो जिसका कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य नहीं करेगा दूसरे को करेगा सूत्रों की बात इस प्रकार से हो और सब नर काम लोग क्रोधी और ये तो सभी लोग हैं चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे छत्री हो चाहे वैश्य हो कोई भी हो सभी लोगों के सब नर जितने पुरुष है काम लोग और क्रोध इन्हीं में रहते हैं काम नाना प्रकार की कामनाओं से ग्रसित और लोभ होना धन के लोभ न जैसे और फिर क्रोधी स्वभाव जब दान क्रोध होगा तो क्रोध लोभ होगा तो क्रोध भी तो होगा ही होगा साथ साथ तो क्रोधी भी स्वभाव उनका तो ये सब काम क्रोध लोग ये तीनों के बस में कलयुग में ये सब सब जगह जहाँ देखो तो ये इन्हीं का प्रभाव दिखाई देता है लोग और देव जो प्रसन्न विरोधी इनका विरोध देवताओं का विरोध मित्रों का विरोध स्थितियों के विरोध संतों के विरोध मतलब जो भी मार्गदर्शन सभी मार्गदर्शन करने वाले हैं उन सबसे विरोध अगर उनसे विरोध न करें तो गलत आपको भी कैसे करें काम के लोग में व्यक्ति तभी पड़ेगा जब न शास्त्र को माने न संत को माने न कोई मित्रों को माने न कोई देवदेव को माने न देवताओं को माने जब उनको कोई नहीं मानेगा तो अच्छा कार्य होगा और क्रोधी व्यक्ति अपना क्रोध क्यों करते हो हाँ? शास्त्रों में तो कहा गया वेदों में शास्त्रों में गीता वगैरह में सब कहा गया कि क्रोध का त्याग करना चाहिए अरे बेटा गीता क्या अरे वो सब बेकार हुआ ऐसे करके उनका सबका अनादर करते हैं शक्तियों की इच्छा करते हैं यही बताते हैं सबको अपना क्रोधी स्वभाव बड़ा श्रेष्ठ स्वभाव है प्राप्त अपने आप को करें कामना ग्रस्त है नाना प्रकार की इच्छाओं से कामनाओं से ग्रस्त तो है तो बहुत अच्छा उसी की प्रशंसा आपने ऐसे करके कहते हैं ये सब संसार में इसी प्रकार का हो जाता है जब सबका यही हो तो ऐसा लगने लगता है कि मैंने जीवन का यही सही तरीका है हर कोई व्यक्ति यही कर रहा है तो सभी मेरे काम तो सभी उसमें उपकार का है तब और क्या ये तो सही तरीके हो जाए कहीं कोई एक आध व्यक्ति दिखाई दे उसको सुख इस मार्ग पर चलता हुआ एक आध व्यक्ति दिखाई दे कहीं धर्म के मार्ग पर चलता हुआ तो शंका भी हो कि भाई ये भाई धर्म के मार्ग पर चलने वाला कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही जहाँ पर सब सब सब सब तरह यही दिखाई दे सब वही कामी को भी लोगी वही वही पाखंडी बंदी चल करने वाले धोखाधड़ी करने वाले लड़ाई झगड़ा करने वाले सब जगह वही वही सब उनकी प्रकार सबका बस यही जैसे ही संसार ऐसे ही होता है ऐसे ही रहा जाता है ऐसे ही कभी कभी नहीं गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी स्त्रियों की बात भी कहते हैं क्योंकि स्त्रियां भी अपने पुरुषों पुरुषों में कई कलयुग आ गया स्त्रियों को भी कलयुग आ गया तो पुरुषों को तो कलयुग आ गया तो अब ऊपर से यहाँ तक तो पुरुष ही पुरुषों की बात करते हैं अब एक आध जगह कहीं स्त्रियों को भी सुन लो उनका कलयुग आ गया तो उनको कैसे हो गया लेकिन गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी हम उनका जो पति हो गुण भी हो सुंदर भी हो मैंने माने पति में कोई दोष नहीं अच्छाइयाँ अच्छाई सब भी है तो भी ऐसे पति को छोड़ करके और भजन नारी पर पुरुष भागी वो भी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुषों के पीछे भाग रहे हैं दूसरे पुरुषों से उनका संबंध हो रहा है तो उनके लिए शब्द बोल दिया अभागी है दुर्भाग्य देता हूँ कैसे दुर्बुद्धि हो गई उनकी तो अपने सुंदर पति को भगवान पति को भी छोड़ करके अन्य पुरुषों के पीछे भागनी सौभाग्य विभूषण ही और जो सौभाग्य माने जो ग्रस्त हैं सन्मार्ग पर चलने वाली हैं धर्म परायण है सौभाग्य लेकिन उनके साथ में क्या विभूषण ही ना वस्त्र आभूषण उनको ठीक ठिकाने नहीं मिलते लेकिन वही दुराचारणी हो दुराचारणी हो तो खूब श्रृंगार खूब बढ़िया सोना चांदी खूब बढ़िया कपड़े खाद बात सब कुछ क्योंकि तो विघ्न के श्रृंगार नहीं ना जो सौभाग्य नहीं होती है वो तमाम श्रृंगार अपने कई घूमती है गुरु गुरु शिष्य बधिर अंध देखा अब देखो गुरु शिष्य का संबंध देख लो कैसे मैंने गुरु में गुरु रह गए और न शिष्य शिष्य रह गए कलयुग में गुरु शिष्य नहीं प्रकार गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा हाँ। एक अंधा तो एक गहरा ऐसे और एक न सुने एक नहीं देखा यह अंधे और गहरे की परिभाषा ये तो गुरु शिष्य अंधे और बहरे हुए तो एक न समझ बदे के तो माने एक नहीं समझ और अंधे के माने एक नहीं देखा एक को दिखाई नहीं देता अब सुनाई नहीं देता अब गुरु उपदेश दे तो शिष्य को सुनाई नहीं देता एक बार नहीं दो बार नहीं रोज दस बार बीस बार पच्चीस बार गुरु बोलता जाए बोलता जाए और शिष्य के दिमाग में एक न करे कुछ न सुनाई दे जैसे कि जैसे आते हैं वही व्यवहार वही आते हैं वही जीवन उसके मैंने क्या डरे डरे तो मैंने ये नहीं कहा सुनाई नहीं देता हम्म? सुनते ही उसको ध्यान नहीं देते उसका पालन नहीं करते तो डरे शिष्य और गुरु अंधार हाँ? उसे नहीं दिखाई देता है कि कहता है और तो क्या कर रहा है अगर गलत में आसन कर रहा है जो आसन इत्यादि में पड़ा हुआ है तो भी उपेक्षा करते तो देखते ही ध्यान नहीं देते क्यों अरे शिष्य धन क्योंकि उन्हें तो शिष्य का धनाधन करना अगर शिष्य की निंदा करने लगे और उसके दुराचरण को देखने लगे तो फिर पता काटने लगे इसलिए उसके जो है वो शिष्य के आंख बंद रखते हैं वो जो करता है उल्टा सीधा वो सब करता रहे उसकी तरफ देखेंगे उसका उसका पैसा जेब से निकालने की कोशिश करेंगे शिष्य की भी प्रशंसा करेंगे अगर दुराचारी भ्रष्टाचारी भी होगा तो कहना वो तो खैर जमाने में आजकल इस बात किया जाता है लेकिन भगवान का बीच बीच में नाम देते रहे तो सब पाप कर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पैसा ऐसा निकालो कुछ नाम रक्षणा करते रहो और फिर हम तो बैठे हुए तुम पाप तमाम कर रहे हो दुराचार कर रहे हो तो तुम करना नहीं हम फिर सब भगवान का भजन करेंगे मंत्र जपेंगे तुम्हारे सारे पाप दूर कर देंगे बात तो रखो कुछ हम्म? जितना तुम कमा रहे हो उसमें से दशांश को तो हमको देते रहना एक परसेंट तो हमको देते रहना हम तुम्हारे लिए जब तक करते रहेंगे तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे ऐसे करते कहते हैं हर विशेष धन शोक नारायण हरणी शिष्य का धन को हरण करेंगे शोक हरण नहीं करेंगे गुरु के काम में शिष्य का शोक हरण करना इससे पता चलता है कि वो इस प्रकार के गलत रास्ते पर चलता है धर्म है अज्ञान है उसके कारण दुखी है तो उसको धर्म का मार्ग सिखाए ज्ञान सिखाए सब गुणों की शिक्षा दें जिससे उसको दूर दूर हो तो गुरु ऐसा नहीं करेगा गुरु ये युक्त लगा देगा जिसके पास पैसा बहुत हो पैसा तो निकलेगा घोर नष्ट न पर ऐसा गुरु जो है घोर नष्ट में पड़ता है गुरु के लिए विदा ऐसा कहो गुरु है तो बड़े गुरु बनता है उनको कोई नरक रख कुछ नहीं गुरु जब इस प्रकार से पाखंडी गुरु होगा और गुरु बनना एक व्यवसाय बना देगा और लोगों से पैसे निकालने की कोशिश करेगा तो बात ऐसे करते परिणाम ग्रही निकलेगा अंत में इस जीवन में अगले जीवन में उसे दुख भोगने पड़ेगा पतन होगा उसका कहते हैं के पिता माँ के पिता बालकने बुला रही माता पिता जो है वो बालकों को बुलाते हैं और उधर भरे सोई धर्म सिखा रहे हैं तो कहते बच्चा घर यहाँ क्या है कि देखो पेट भरने की विद्या तुम्हें बताऊंगा ये पढ़ो वो पढ़ो इससे तुम खूब कमाओगे खूब पैसा मिलेगा खूब खाओगे खूब मन रहोगे माँ बाप के पास ज्ञान में कितनी रह गया और बच्चों के लिए से बड़ा यही है इससे ज्यादा माता पिता कुछ नहीं जानते कि अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है कि बस उनको पेट भरने वाली विद्या पढ़ा दो ऐसा कुछ सिखा दो कि पेट भर जाए इसी में ही कुछ फ्री हो गई उनको न सदाचार की न धर्म की न ज्ञान की न परमार्थ की न अध्यात्म से उनसे कोई मतलब नहीं माता पिता को सुख बात कि अधिकांश लोग कलयुग में अपने भ्रष्टाचार दुराचार के कारण से विपदगामी हो जाने के कारण से शक्ति शक्तियों का अपव्यय होता है झगड़ा प्रसाद साथ काट में उन्हीं सारी जाती हैं परिणाम ये होता है उत्पादन घटता है और पेट भरना मुश्किल हो जाता है हम्म? तो उस समय क्या होगा दिखाई देगा जब पेट भरना मुश्किल हो तो क्या पढ़ाओ क्या करो माँ बाप ने अगर पेट भरने का उपाय बता दिया बच्चों को तो बहुत बड़ा काम बता दिया इस कलयुग में कलकाल में जबकि भूखों मरते हैं संसार में अधिकांश लोग उस समय किसी व्यक्ति ने पेट भर लिया तो समझो कि बहुत कमाल कर लिया बस उसकी शिक्षा बता बात खत्म हो <clears throat> लेकिन अगर समाज में सदाचार हो सब अपने अपने धर्म का पालन करने वाले हों सम्मान पर चलने वाले हों तो जो शक्तियों का पद्य होता है शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति इन सब शक्तियों का पद्य बहुत अधिक होता है व्यक्ति अपने जीवन में शायद सौ में से दो चार प्रतिशत शक्ति का उपयोग कर पाता हो तो कर पाता हो बाकी उसकी सारी शक्तियाँ संघर्ष में ही नष्ट होती चिंता में ही नष्ट होती व्यर्थ के के जीवन में नष्ट होते परिणाम ये होता है कि फिर उसका जो जीवन के लिए कल्याणकारी है उपयोगी उत्पादन इत्यादि है उसमें बाधा पड़ती है वो नहीं हो पाता मनुष्य कार्य बहुत करेगा और उपलब्धि बहुत थोड़ी होगी भाग दौड़ बहुत परेशानियां बहुत और उसका लाभ क्या हुआ मिला क्या कुछ नहीं इसके कारण से जाइए ऐसे समाज में बस वही शिक्षा प्रधान है जिससे कि पेट भर जाए कुछ पैसा कमाए माता पिता बालकन बुलावे उधर भरे से धर्म सिखावे धर्म सिखावे माने यही धर्म है जिससे पेट भरे वैसे ही धर्म और क्या धर्म और ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहा दूसर बात लेकिन ऐसा ही कभी ज्ञान न हो ज्ञान बहुत है हम्म? सब ब्रह्म ज्ञान है बात करेंगे तो सब ब्रह्म ज्ञान की ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो नार भी बोल दिया किसी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सब ब्रह्म ज्ञान की बात करें और कहे न दूसरा बात हम्म? दूसरी बात करें अगर ऐसे सही में ऐसा हो तो सचावा सारा संसार ज्ञानी हो जाएगा हम्म? लेकिन आचरण कैसा देखो बात कुछ है और आचरण कैसा है कौड़ी लागी लोग बस कहीं विप्र गुरु घात कौड़ी लागी मैंने कौड़ी भर के लिए कहो तो बुद्ध की हत्या कर दें और कहो गुरु की हत्या कर दें महाराज ने कौड़ी भर के लिए थोड़े से लाभ दे दिए कौड़ी की जरा से कम कीमत थी उसके लाभ दे दिए आचरण तो जब आज ये कौन सा ज्ञान हुआ मैंने कहने का तात्पर्य ये ये ज्ञान नहीं ज्ञान का मखौल है ये हाँ? तो इस प्रकार का आचरण तो इस प्रकार का जो लोभ में पड़े हुए हैं काम में पड़े हुए हैं क्रोध में पड़े हुए हैं हत्या में पड़े ऐसे भीषण कार्य तो कर रहे हैं जीवन में जीत ऐसे रहे हैं और बातें करते हैं ब्रह्म ज्ञान की बात ये कोई ब्रह्म ज्ञान हो ये तो घोर अज्ञान ऐसे ही बोले के बाद शूद्र विजन सना हम तुम कहें कटुघाट ऐसे शूद्र ब्राह्मणों से क्या बोले कहेंगे हम तुमसे कोई कम है क्यों कहीं जाने ब्रह्म से विप्रभर है कि ब्राह्मण कौन जो ब्रह्म को जाने से ब्राह्मण क्या ब्रह्म को हम भी जानते हैं इसलिए हम भी ब्राह्मण हम्म? और आप दिखा वही दांत और उनको दांत दांत करके आप दिखाते हैं अद्वित है उनको तो ब्रह्म ज्ञान है नहीं विचारों को तो उनसे जात प्रकार सुनेंगे शूद्रों को शूद्र उनको ज्ञान बतावेंगे कि देखो हम ब्रह्म ज्ञान ज्ञानी अच्छा तुम ब्रह्म ज्ञान ज्ञानी हाँ अब ब्राह्मण बेचारा सब बता रहा है कि हमें तो ब्रह्म ज्ञान सुना नहीं क्या होता है और ये शूद्र को बड़ा ब्रह्म ज्ञान ही होंगे और उसके सामने जो वो जात प्रकार बता रहा है और ब्राह्मण बेचारा जैसे बिता रहा है उसको सुनने में इस प्रकार से जो ये स्थित हो अब इसमें इसमें भी तात्पर्य क्या है कि अब ये संयुक्त स्थिति बताते हैं इसमें दोष क्या है इसमें कि अगर शुद्ध है तो जो अपने शुद्ध है अगर ब्रह्म ज्ञानी है तो धर्म ज्ञानी माना जाना चाहिए उसे हो गया ब्राह्मण के बात में और शुद्धता से कहा ये जो ब्रह्म ज्ञानी है लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञानी होता तो कोई विपरीत के सामने जाकर के आगे दिखाओ तो ज्ञान में कोई अहंकार होता है और दूसरे की बातें भी रहे अहंकार तो हम सब ज्ञान समझते हैं अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञानी हो और उसको ब्रह्म ज्ञान का अहंकार हो दूसरे को जान सत्कार रहे तो ज्ञान नहीं हो वो तो अज्ञान से भी ज्यादा गड्ढा गहरा है जहाँ से निकल नहीं उसके लिए ईसावास तो परिषद में यही एक तो देखो अविद्या है हाँ? तो अविद्या हाँ, तो ठीक है भाई अविद्या कहीं विद्या आएगी तो अविद्या दूर हो जाएगी अविद्या कोई बहुत खराब बात नहीं है लेकिन विद्या आ जाए हाँ? और विद्या का अहंकार आ जाए अहंकार के साथ विद्या आ जाए तो तो फिर अब लामल ऐसा मर्द हो गया जब उसका कोई इलाज नहीं क्यों अब वो किसी को सुनेंगे नहीं अज्ञानी जैसे उसका अज्ञानी है वो तो सुनेगा भाई कोई ज्ञान मान उसके पास सुनो हम अज्ञानी है ज्ञान कहीं मिलेगा ज्ञान का ज्ञान दूर हो जाएगा लेकिन जिसे ज्ञानाभिमान हो वो किसी को समझेगा जो किसी को नहीं तो कैलाश कहाँ हो इसलिए अविद्या से तो व्यक्ति जो है वो अंधकार में पड़ता लेकिन जहाँ विद्या आई तहाँ वो ऐसे घोर अंधकार में पड़ेगा जहाँ से निकल नहीं सकता कैसे कहते हैं कि ये जो है वो जनता के स्वभाव तो तमोगुण हाँ। लेकिन उनके तमोगुणी कारण से काम को राज विकार में है रजोगुणी है तमोगुणी है लेकिन मौखिक शाब्दिक ज्ञान हो गया ब्रह्म का ज्ञान तो उसके कारण अभिमान भी आ गया और उस अभिमान के कारण दूसरे को प्रहलाकान भी करने लगे परेशान भी करने लगे डांटने धमकाने लगे अपना अहंकार दिखाने लगे तो इस प्रकार के ऐसे व्यक्तियों को कोई इनका ऐसे व्यक्ति का अज्ञान भी कोई दूर नहीं कर सकता कोई बात और न वो अपने अज्ञान को अज्ञान मानेंगे न उस अज्ञान के लिए कहीं किसी के शरण में जाएंगे न कहीं ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी उनके मन में आएगी इसलिए वो ऐसे ज्ञान में फंस जाते हैं जहाँ से निकलने उनको मुश्किल रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्त्यन्तयश्च रघुकुन्दवनिर्धराम्ये कामादिदोषरहितं कुरु मानुसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम